वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार तूने हमें दो बार मारा और दो बार ही जिलाया अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है